या अगर तुम्हें भी वो अजाब दिखा दें जिसका हमने उनसे वादा किया है तब भी हमें उन पर हर तरह की कुदरत हासिल है